और ए मुसलमानों तुम्हारे पास क्या जवाब है कि अल्लाह के रास्ते में और उन बेबस मर्दों औरतों और बच्चों की खातिर न लड़ो जो ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल लाइए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए